नम मारे राम को रण रण खोरे जाने आज नम नम को रण रण को राव जे मार राय कोरण मारियो रे राम राणा तन तोरणे मारो रे તામર્યા કે માય ના હવે દેખારે તામર્યા કે માય ના બાટા નિરતે ર્યા માય નાએ જે ફેરા ખાવે છે સાતેરા નોબ તેરા તો ખારે આદિ રાંકા માની લે નિકારવ દે તોમરા સાત ફેરા भवर भोज का खंडा पुरानी जयंती खाजी थे आए जब जान ने हुक्म लागो राणा जी की परात सज धज तैयार होकर इस तोरण पे रवाना हो रही थी ये मदा मेंढे लागी लाई तोरण पे तुंगिया थे हाँ तो राणा जी ने तोरण मार और चमड़िया में बराजमान हो गया थी रानी जेमती सो हथले जोड़ के और राणा जी ने साथ फेरा जे रानी जयंती का राणा जी खा लिया थी तो मल्हा परण के राणो जी और कहीं मेला के नीचे उतरे और कहीं धन डाइजो अरे तो लज्जो डाइजा मत दे Thank you. तेरा डाई जागे माज मारे धान तेरा ते डाई जावे आज घोड़ा को राम डाई जो अब घोड़ा को लस करे राम राणी लस करे जी जब देरो राजा रे जब डाई अबे आवे रे जान पाजी अब लागी तेरे पत्या બેઠી ડોળા કે માં એ રાણી વાતો બેઠી છે ડોળા કે બેટી છે ઈરા રામ બાંધી અબ બેટી છે ઈરા राणा जी परण के हेर मर्दा राणा जी के डाई जामा हाथी घोड़ा लाव लश्कर ऊंट तो डाई जामा भाई साहब के दे दिया छे ये मर्दा डाई जो धन दौलत लेके और दोनों बराता के डाई जो सी सीख सोलंगी राजा से यहाँ से सीख गई थी तो मर्दा जान बरात अरे रणका राव जी की फाची जो राण में दाबा के वास्ते तैयार हो रही थी हंस हंस के और पत्या રાણાજી જાંગને લાગી રાણી જેમતી ગઈ એ મરધા ટોળો સજા તૈયાર કરકે और टोला में रानी જેમતી और हीरा बांधी और एक जो रथवानी विराजमान हो गया थे तो कहे ने कहा आगे जान सवाई भोज की चाल लीजिए और पक्ष राणा जी को लाव लश्कर और बरात आ रही थे एर ने कहा पाछी राणा में जान राणा जी की जा रही Música पकड़ा कि राणा जी की ये મરધા चांद राण में दारी छे आज के घोड़ी कुणी नाचे सोई राजा भोज की चमकत आर्या छ सुंदरा सेल गहुर भोज का जो झंडा उठा आर्या से ये मरदा राण और गोट को कांकड़ाया तो बगड़ाओ तो गोठ के गेले घोड़ा फेर दिया थे और राणा जी को लश्कर राण में जा रही थी तो राण गोट का कांकड़ में ये मरना पकड़ाओ तो गोठ में आवा गया और राणा जी की बरात ठी फटवा लागी तो रानी जेमती रथ में बैठी हुई तो कहीं देखा રથવાની શું કે છે આજ माथा घोड़ा जाया ये गोठ में रबीरा रथ तोरे दीजे रे मारो रथ तो गोठा मेरे माँ बोले रखवानी राम बाई जी सु बोले ते रखवानी वो चालो राण के माई बाई जी तो चालो दे राण के रानी जेमती रथवानी सूट देख बोले के देखे रथवानी ये वीरा ये तो इस बेटा बगड़ावत खटी जा रहा थे कि भाई साहब ये तो ओठ में जा रहा थे और राणा जी की बरात जो राण में जा रही थी रानी जेमती देख बोले के देख रहे रथवानी चढ़िए बगड़ाव जावे उठी मारो रथ डोलो फेर दे मैं राण में कभी भी नहीं जाऊं रथवानी देख बोले तो भाई साहब बावली ने होगा तो चूस बेटा बगड़ाव छे रंगीली गोट खा गुजर छे એવા થી ગોઠણ કર્યા थे और आप तो आप राणा पधारो राणा जी की राण में भाई साहब पधारो नहीं रथवानी रथ महरो गोठा में फेर दे मैं तो महारूड़ा जो खा ये मेरा खोजो धारी बदन की चामड़ी तो रानी जेमती कांकड़ पे मचल और रूसर जो रानी जेमती पेट रथवानी सूखे गई पर रथ गोठा में नहीं फेरे तो कहीं देखा एकदम सुरानी पंकट रूप धारण कर काली कंकाली को रूप धार करके और कहीं देखा पर्दा में बैठी बैठी और कहीं उरत के ताई उरत का हगबा का हड़ा का ताई तो कहीं देखा शुरू बताओ जी કંકાળી કોહરૂપી ભવાની થાને ધાર્યો છે બંકટ હાથ ખા રામ ચાકરી હાથ ખા होगी चे बकरा भवानी वा तो योगी चे रे बकरा ડોળાશું રામની ચોરે પડી ગયો ડોળાશું માછો જાન મે રામ હા કો માછો રે જાન મે દીના મોડ તો ઈશ ગોળા ને દિયા પાછા राणा जी की राम पोज से दी तो डटेगी से रानी थी ने काली कंकाली को रूप धार करके और हाथ में खप्पर चक्कर ले और भवानी भकराड़ो के और पर्दा भीतर बैठी रथवानी के रूप दिखायो रही तो आकदम सो भकराड़ दिखी ने तो रथवानी तो घबरा बा लाग्यू डोला के नीचे जापड़ियो अरे मरदा कार मट्टी पूछ को जोड़ा मुंडा में ले गयो सभी बात की कोई बात की शुद्ध इनरी को ही और भूल के चकना चकनाचूर ये मरदा दम सु बार को तो हल्लो गुलबो रे तो पकड़ाओ ताकि भी घोड़ा की लगाम आपा जी खींच ली से और पकड़ाओ तो डट गया और राणा जी की फौज भी डट गई और राणा जी भी वापस फाचा फिर आया चोइस बेटा बड़ा देख बोला करे पूरे चोइस हो गजब की बात होगी रानी तो कांकड़ पे रूस गई ये भी राओ अब जो आपने जो रानी ने ले आपने वोट में चलांगा तो कांकड़ पे आपने जो छिदना प्रेम सो सक्राम हो जाओगे बीरा लाखों बीरा की देवड़ा बाकी यही आप सक्राम में पड़ जाओगे बहुत जी देख बोलोगे कहीं करना चाहिए दादा भाई तो कहीं लगा बहुत बहुत देख बोला नेवाजी शुभ देख रही नेवाजी रानी के ताई कहीं कहीं बात को हमला सुबंदा अरे उचाला काहे घोड़ा ना फाजा फेरे है एर जी नाना जी की भी जान फाच आगी तो काहे देखा रानी के और साई भोज के बातचीत हो जाओ कोल करा छा राम मराणी थे सुगोल घेरा छा के देखते रानी जी थी कर दी तथा तो गलत की बात ए रानी जी आभार तो था रान में जाओ और थासो कोल कर जी धनी में थाने लेवा का वास्ता और जो आपने रूस में मार दियो तो बाहर कांकड़ पे ही राणा जी की फौज और वहां की फौज आमी सामी संक्रांत जो लड़ेगी तो रानी जेम जयंती लाखों बीघा की देवड़ाया कांकड़ पे हो जाओ रानी जेम जयंती देव बोले करे बोले चोरी साओ ए भीरा जियो मैं सुकोल करार कर जाओ तो मैं राण में जाऊं मैं तो कभी भी राण में नहीं जाऊं बने खा के संग्राम हो जाओ तो कहीं देखा भोजी रानी जेम थी सुकोली इकरार करें तारारी दानती नी ते सुराणी को दिखी रानी दने માટે લડાવે રાડ રાણી તું તો મતી લીડા જોઈ બોલે છે રાણી રે આજ તોય સાસુ બોલે છે રાણીજી તીન દાના કો બોજ તે શું તીન દિના કો રે કોલે वाया जे जे राण कोल बचन राम चूक जावे कोल बचन तू याद राम नम नम डेरिया राम बचन वे को नम नम बांध्या बकर देख बोला कि देख हे रानी जी थी राणा जी की लहर में जा और तने तीन वतन जरूर में है राण में सुन लेबा तने आ जाओ रानी जी थी तीन वतन लेबा नहीं आवा तू थारा आशा जी कर दीजिए રાણી જેમથી દેખ બેલા કે દેખરો ચોઈસ બેટા પકડાવ થો અગર થાંકેર માં કે તીન દિન કા કોલ છે તીન દિન મે जो मने राण मसू लेवा नहीं आया छो तो चौबीस बेटा बगड़ाओ था हाँ? माथा काट काट और रुंड माला मारा गला कर ये बोझ जी यह बात मंजूर हुए तो तुम मैं सुकोल वचन कर जाए भौज जी देख बोला कि निकली रानी थारे मारे ताली वचन छे तीनवा दिन ने जो तुमने लेवा नहीं आऊं तो थारा आशा हो जी कर जी मैं वचन हारो जाऊं तो रानी जयंती ने भोज जी का वचन ले लिया छे तो चोइस बेटा पकड़ावते रंगीली गोठ में आवे छे और कांई राणा जी की जान जो राण में रोना मजा આવે છે ये यागी राणा जी की जान जी बारिश राम राणा जी पे ओरी जे राण के बटरी लाखा की बधाई नान वे लाखा लाखा की बोले छे रानी राम जे मती बोले छे रानी ಜೊತೆ ಈಡೇರೋ सुन ले राणा जी समाचार मारी रे सुन ले ने रण का ने चालू रे गाढ़े राण थारी बने चालू रे गढ़ राण का लोग है राणा जी प्रण आया तो फूला की बारिश जी राणा जी पे हो रही थी अरबी खड़बी का बाजा बाल जाते छत्तीस राग जो राणा जी की जान बरात बाल जाते वाह हाँ, वाह महाराज कमा तो या श्रोता रानी जेमती बाग में जो देर उठा दी थे रणकार राव जी सुन रानी जवाब कर रही है देख रे रणकार राव जी थारी पुरानी रणवास में मैं कभी भी पग नहीं राणा जी दूजी तो तुम्हारे पेट बना और दूसरो बहुत सुरीलो मेल रणवास मारी तैयार कर रणवास में मैं जाऊंगा नहीं तो थारी आड़ में कभी कम नहीं जितना रणवास तैयार नहीं हुए जितने आप आगा में मारो डेरो के था राणा जी के ये बड़ा खा रखे और कहीं समझ रानी बात करे ચાલો મેલ કે માય રાણી જીરી ચાલો ને મેલા ખેરે માય के वास्ते વાસ્તે कर કર્યું थी तो करोड़ों लाखों रुपया को नुकसान होना जो जो बढ़िया बढ़िया देश देश का कारीगर भला और रात धन कर और रानी जी की मेला तैयार कर दी थी तनु का प्रवाह राणो जी बाहर में आके बोला रानी जी पधारो मेल तैयार हो गयो और आप पधारो जो प्रेम से उठा रहे हो जे रानो असमें आप पधारो रानी जी इतनी सोची के धनु ना तन रात कर तो तुरंत को तुरंत महल तैयार कर लियो पगड़ाओ आप तीन दिन पूरा नहीं होगा दे जी के पहली रावण जरूर भी चौपट की बाजी आपसे कह ले रानी जीम थी जमन में कम पाओ ठीक है तुमसे उधार रानी देख बोली के देख राना राणा कहाँ अपनाई मारो मेल और शुभ फड़ो मेल बनाए चाल देखा मना बता तो रानी जीम थी नई रणवास के ताए देख बाजावे तो राणा जी ने हीरा मोतिया को चढ़ाव कर मिलियो और बढ़िया सुंदर कांच ही कांच उजड़ा हुए थे और मेल जो बहुत ही बढ़िया सुंदर बना थे तो कहीं देखा रानी महल ने देख बजावे और कहीं एकदम से पंकट रूप धारण करके और कहीं देखा कड़ी नजर कर देखे मेलाडी Thank you. धारियो रे पंखा ठहरू रानी थाने धारियो रे पंखा ठहरू पाड़ियो चे मेली से दो यार डरड़ी की रे वो रूप धारण કરડી રૂપ ધારણ કર છાંકી મેલાડી તો મેલાડી દેખાય જ ચૂક તો મેલ કોટ કાંગરા ઠન ઠન નીચે પડ ગયા રાણી જેમ થી राणा जी गजब कर दी मेल की पेड़ी नहीं चढ़ी जी पहली थारो मेल तो धड़ नीचे पड़ गयो ये राणा जी ऐसी हो जाती जो मेल मिल जाता तो मैं भी दबर नीचे मर जाती राणा जो मेल कोई भारा पसंद नहीं है दूसरे जन वास्ते तैयार करनी चाहिए तो आ तो ऐसा कर कर तीन दिन पूरा करेगा भाई इतना तो बगड़ा तो। होते हमारे पास माही जाओ राणो जी न टूटा फरजा ये मर्दान ने वो महल तैयार करे और रानी धनुगा जावे और महल में योगदान डढ़ारा जाओ तो तीन दिन लाखों अरबा खरबा को नुकसान रण का राव जी को कर दियो पर महल से पूर्ण रानी जेमती नो बने रानी जेमती ने सोची राणा जी रेवा की रणवास तो तू एक आड़ी चुनवा दे और मारी बैठक है ये राणा अरे एक आड़ी चुना ले तो रानी रेबा की बैठक है जो मरदा एक आड़ी चुनाई लाग रही छे और जो राणो जी शहद पे लेके और रानी ने रणवास में ले जावे वो मेल जो रानी से प्रणो तो रानी जेब थी एक बहुत अनोखी ये नाम मेले रे बापू जो महल छे वही रानी और बांदी प्रेम सो महल में रेवी छे और बहुत मौजा उड़ाई तो कहीं ना कहीं रानी जयंती के है और कहीं बांदी सुने छे Thank you. दिशो करे कटे गली बांधी ए मरदा ना होगी गजब की बात को बोल कर यारी पकड़ाओ तीन दिन का ये ना आज वहां छः छः महीना हो गया पकड़ाओ तो किसान आया कहीं बात होगी और कहीं बात गोट तो में गुजर गई देख रही राम ए भाई साहब तू भी नहरू चुआ की बात ही ना छोरी ए भाई साहब गजब की बात होगी रे पकड़ाओ था कहीं बात की आंटी आ गई जो हल्ता ही मैंने लेबा के वास्ते ना आया और राणो जी रणवास में ले जावा के वास्ते बहुत ही गजब को हट लागे थे पर हीरा छोरी मैं राणा जी की मेला त्यार जहां तक बगड़ा हो तो गोठ में नहीं आओगा ये राण में नहीं आओगा जहां तक मैं राणा जी की रणवास पूरी करी भी नो भाजूंगा ये वचन रानी जयंती ने ले लिया थी तो बांधी और रानी जयंती को प्रेम सुन राण में शुभ शुभ से और चो कोल कर भूल गया चेराणी आड़ी देखवा की कोई जरूरत ही नहीं पड़े तो कहीं देखा चोइस बेटा प्रेम सो बाग में हे मरदा गोठ में विराजमान हो गया थे चोइसी भया के पास आस्ती दांत का पड़ गया खेल रहा चौपड़ को खेल काली कोडा जाजमिया विराजमान हुई थे ये मरदा साढ़ा तीन सौ गया का ग्वाल नापा नौ लख चरावा से नौ लख गाय चोइस बेटा पकड़ा होते दनुंगता प्रभातना चौपड़ी चौपड़ को खेल मार दे शारोदन चोट खेले कोई बात की चिंता नहीं करे तो कहीं ने कहा मुर्जी होगी कि दीनानाथ की तो भोड़ो शंकर महादेव महाराज कहीं माया उपावे और कहीं एक छोटी सी चीज बना खंडावर भे सगदी तारी भजोरीो सघी बोले खे भोड़ा राम शवरी बोले भोड़ा कोई सान जाओ ने जात माया तो चोश बेटा बगड़ा तो गोठ में विराजमान हो गया भोला नाथ जो पाठा ताप गया छे ये एकदम सो पलक खुलताई शव जी ने जठा मुकुट सु एक माया रूपी तो बजोरी कांदरी रूपा और शव जी धेन बोला के देख रहे बजोरी कांदरी चोश बेटा बगड़ा तो बहुत दानी छे तू तू आने जाच बा जाजी तू यहाँ कितनो तो तूने दान दे चुवे आ कितनो अंबर नाव जमीन पे करे छे बगड़ाओ स्त्री का दानी ये मर्दा आशा जोरदार सरदार नेवा भोजा तेजा जी महाराव तू बड़ा बंका सरदार छे तो तू बुजुर्गी कांजरी गोठानो आने जाच बा के वास्ते तू जाजी Not today. Not মতো আসে মারো कांदरी ने तो बजोरी कांदरी नहीं ये मर्दा पाडा घोड़ा पर ऊंठा पे भार धर चांदी का ले बांसड़ा है बजोरी कांदरी जो गोठा में जारी छे बजोरी कांदरी को लश्कर हरे गोठ में जारी छे गोठ में बजोरी कांदरी तनुक था प्रवाह बजोरी कांदरी को जुड़ेरो ગોઠમાં હાર ઉતરી ગયું છે દર ઉગતા પ્રવાહ ચોવીસ બેઠા પકડા જો બરાજમાન હોયા કાળી કોડલ है जाज में बथरी છે चक्री की जाज में हे मर्दा पकड़ा होता नीचे बची हुई छे पासा पटकरी हाथी दांत का खेल चोपड़ को खेल चोइस पकड़ा होते हे मर्दा बराजमान हो रहा छे डालना सु डालना घसे बर्छी सु बर्छी घसे हे मर्दा गोडी सु गोडी गड़ रही है पेठा से जाजम ना चोइस पकड़ा होते बराजमान हो रहा छे दनुदा प्रभात हाथ जोड़ के बजोरी कांजरी खाना में ત્રીખાના માં જાર બગડાવ સાસુ દેખ બોલી કે રે બગડાવતા હો આજ થાકો ઘણા દના કો નામ સુન મેલી છે તો આજ જરૂર મારો ખેલ देखनी चाहिए या बात बजोरी कांजरी ने सुनता ने वो साधार देख बोलो के रे बजोरी कांजरी ये मधान चोइस बेटा बगड़ाओ ब्राज हो रहा छे अरे थारो खेल है जो तू बजोरी कांजरी कर दे बजोरी कांजरी के जगह श्री नाता खेल तो जब करूं मैं जा दन मारो बीड़ो आप जो भाई उठा लेगा जब जार खेल करूं ना तो इतना खेल नहीं करूं तो कहीं लगा बजोरी कांजरी पांच पाना की वीडियो बना के और कहीं चोशी बेटा पढ़ाओ ताकि कचेरी में पटक देवे